शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है और इन अहले किताब में बाज ऐसे हैं कि किताब यानी तौरात को जबान मरोड़ मरोड़ कर पढ़ते हैं ताकि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ते हैं किताब में से है हालांकि वो किताब में से नहीं होता और कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता और अल्लाह पर झूठ बोलते हैं और ये बात जानते भी हैं किसी आदमी को शाया नहीं कि अल्लाह उसे किताब और हुकूमत और नबूत अता फरमाए फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे हो जाओ बल्कि उसको यह कहना चाहिए कि अः अहले किताब तुम रब्बानी हो जाओ क्योंकि तुम किताब की तालीम भी देते हो और क्योंकि पढ़ते पढ़ाते रहते हो और उसको यह भी नहीं कहना चाहिए कि तुम फरिश्तों और पैगंबरों को मबूद बना लो भला जब तुम मुसलमान हो चुके तो क्या वो तुम्हें काफिर होने को कहेगा और जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया कि जब मैं तुमको किताब और दानाई अदा करूं फिर तुम्हारे पास कोई पैगंबर आए जो तुम्हारी किताब की तस्दीक करे तो तुम्हें जरूर उस पर ईमान लाना होगा और जरूर उसकी मदद करनी होगी और अहद लेने के बाद पूछा कि भला तुमने इकरार किया और इस इकरार पर मेरा जिम्मा लिया यानी मुझे जामिन ठहराया उन्होंने कहा हाँ हमने इकरार किया फरमाया कि तुम इस अहद पैमान के गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं अब जो लोग इसके बाद फिर जाएं तो वही बदकिरदार हैं फिर क्या ये काफिर अल्लाह के दीन के सिवा किसी और दीन के तालिब हैं हालांकि सब अहले आसमान और जमीन खुशी या नाखुशी से अल्लाह के फर्माबरदार हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर नाजिल हुई और जो सहीफ इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर उतरे और जो किताबें मूसा और ईसा और दूसरे अंबिया को परवरदिगार की तरफ से मिली सब पर ईमान लाए हम इन पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते और हम उसी अल्लाह के फर्मा बरदार हैं और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा वो उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसा शख्स आखिरत में नुकसान उठाने वालों में होगा अल्लाह ऐसे लोगों को क्यों कर हिदायत दे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए और पहले इस बात की गवाही दे चुके कि ये पैगंबर बरहक है और उनके पास दलाइल भी आ गए और अल्लाह बे इंसाफों को हिदायत नहीं देता इन लोगों की सजा यह है कि इन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और इंसानों की सबकी लानत है हमेशा इस लानत में गिरफ्तार रहेंगे इनसे न तो अजाब हल्का किया जाएगा और न इन्हें मोहलत दी जाएगी हाँ जिन्होंने इसके बाद तौबा की और अपनी हालत दुरुस्त कर ली तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है जो लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो गए फिर कुफर में बढ़ते गए ऐसों की तौबा गिस कबूल नहीं होगी और ये लोग गुमराह हैं जो लोग काफिर हुए और कुफर ही की हालत में मर गए वो अगर नजात हासिल करनी चाहें और बदले में जमीन भर सोना दें तो हर गिस कबूल नहीं किया जाएगा इन लोगों को दुख देने वाला अजाब होगा और इनका कोई मददगार नहीं होगा मोमिनों जब तक तुम उन चीजों में से जो तुम्हें अजीज हैं अल्लाह की राह में खर्च न करोगे कभी नेकी हासिल न कर सकोगे और जो चीज तुम खर्च करोगे अल्लाह उसको जानता है बनी इसराइल के लिए तौरात के नाजिल होने से पहले खाने की तमाम चीजें हलाल थीं बजुज उनके जो याकूब ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी कह दो कि अगर सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़ो यानी दलील पेश करो अब जो उसके बाद भी अल्लाह पर झूठे इफ्तरा करें तो ऐसे लोग ही बेइंसाफ हैं कह दो कि अल्लाह ने सच फरमा दिया बस दीन इब्राहिम की पैरवी करो जो सबसे बेताल्लुक होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और मुशरकों में से न थे सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत करने के लिए मुकर्र किया गया था वही है जो मक्के में है बाबरकत और जहान वालों के लिए मुजिब हिदायत इसमें खुली हुई निशानियां हैं जिनमें से एक इब्राहिम के खड़े होने की जगह है जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हुआ उसने अमन पा लिया और लोगों पर अल्लाह का हक यानी फर्ज है कि जो इस घर तक जाने का मकदूर रखे वो इसका हज करे और जो इस हुक्म की तामील न करेगा तो अल्लाह भी अहले आलम से बेनियाज है कहो कि अहले किताब तुम अल्लाह की आयतों से क्यों कुफर करते हो जबकि अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है कहो कि अहले किताब तुम मोमिनों को अल्लाह के रस्ते से क्यों रोकते हो और बावजूद कि तुम उससे वाकिफ हो उसमें कजी निकालते हो और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं मोमिनो अगर तुम अहले किताब के किसी फरीक का कहा मान लोगे तो वो तुम्हें ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे और तुम क्यों कर कुफर करोगे जबकि तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं और तुम में उसके पैगंबर मौजूद हैं और जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लिया वो सीधे रस्ते लग गया मोमिनो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है और मरना तो मुसलमान ही मरना और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फिरके फिरके न हो जाना और अपने ऊपर अल्लाह की उस मेहरबानी को याद रखना जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए और तुम आग के गढ़े के किनारे तक पहुंच चुके थे तो उसने तुमको उससे बचा लिया इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम राह रास्त पर रहो और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे यही लोग हैं जो कामयाब हैं और उन लोगों की तरह न होना जो मुतफरक हो गए और साफ अहकाम आने के बाद एक दूसरे से इख्तिलाफ करने लगे ये वो लोग हैं जिनको क्यामत के दिन बड़ा अजाब होगा जिस दिन बहुत से मुंह सफेद होंगे और बहुत से सियाह तो जिन लोगों के मुंह सियाह होंगे उनसे अल्लाह फरमाएगा क्या तुम ईमान लाकर काफिर हो गए थे सो अब उस कुफर के बदले अजाब के मजे चखो और जिन लोगों के मुंह सफेद होंगे वो अल्लाह की रहमत के बागों में होंगे और उनमें हमेशा रहेंगे ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं और अल्लाह एल आलम पर जुल्म नहीं करना चाहता और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है मोमिनो तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की हिदायत के लिए मैदान में लाया गया है कि तुम नेक काम करने को कहते हो और बुरे काम उसे मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता उनमें ईमान लाने वाले भी हैं लेकिन थोड़े और अक्सर नाफरमान हैं ये तुम्हें खफीफ सी तकलीफ के सिवा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और अगर तुमसे लड़ेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे फिर उनको मदद भी कहीं से नहीं मिलेगी ये जहां नजर आएंगे तुम देखोगे कि जिल्लत इनसे चिमट रही है बजुज इसके कि ये अल्लाह की पनाह में या मुसलमान लोगों की पनाह में आ जाएं और ये लोग अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हैं और नादारी इनसे निपट रही है ये इसलिए कि अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल कर देते थे ये इसलिए कि ये नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे ये भी सब एक जैसे नहीं हैं इन अहले किताब में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो रात के औकात में अल्लाह की आयतें पढ़ते और उसके आगे सजदे करते हैं वो अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान रखते और अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नेकियों पर लपकते हैं और यही लोग नेकुकार हैं और ये जिस तरह की नेकी करेंगे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है जो लोग काफिर हैं उनके माल और औलाद अल्लाह के मुकाबले में उनके हरगिज काम ना आएंगे और ये लोग अहले दोजख हैं कि हमेशा उसी में रहेंगे ये लोग जो माल दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं उसकी मिसाल आंधी किसी है जिसमें सख्त सर्दी हो और वो ऐसे लोगों की खेती पर जो अपने आप पर जुल्म करते थे चले और उसे तबाह कर दे और अल्लाह ने उन पर कुछ जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं मोमिनो किसी गैर मजहब के आदमी को अपना राजदार न बनाना ये लोग तुम्हारी खराबी में किसी तरह की कोताही नहीं करते और चाहती हैं कि जिस तरह हो तुम्हें तकलीफ पहुंचे इनकी जबानों से तो दुश्मनी जाहिर हो ही चुकी है और जो कीने इनके सीनों में मख्फी हैं वो कहीं ज्यादा हैं अगर तुम अक्ल रखते हो तो हमने तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुना दी हैं देखो तुम ऐसे साफ दिल लोग हो कि इन लोगों से दोस्ती रखते हो हालांकि ये तुमसे दोस्ती नहीं रखते और तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो और ये तुम्हारी किताब को नहीं मानते और जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं और जब तन्हा होते हैं तो तुम पर गुस्से के सबब उंगलियां काट काट खाती हैं इनसे कह दो कि अपने गुस्से में मर जाओ अल्लाह तुम्हारे दिलों की बातों से खूब वाकिफ है अगर तुम्हें आसूदगी हासिल हो तो इनको बुरी लगती है और अगर तुम्हें रंज पहुंचे तो खुश होती और अगर तुम तकलीफों की बर्दाश्त और नाफरमानी से कनारा कशी करते रहोगे तो इनका फरेब तुम्हें कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सकेगा ये जो कुछ करते हैं अल्लाह उसका इहाता किए हुए है और उस वक्त को याद करो जब तुम सुबह को अपने घर से रवाना होकर ईमान वालों को लड़ाई के लिए मोर्चों पर मौके बमौके मुतयन करने लगे और अल्लाह सब कुछ सुनता है जानता है उस वक्त तुम में से दो जमातों ने जी छोड़ देना चाहा मगर अल्लाह उनका मददगार था और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए और अल्लाह ने जंगे बद्र में भी तुम्हारी मदद की थी जबकि उस वक्त भी तुम बेसरो सामान थे बस अल्लाह की नाफरमानी से बचो ताकि शुक्रगुजार बन जाओ जब तुम मोमिनों से यह कहकर उनके दिल बढ़ा रहे थे कि क्या तुमको यह काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार तीन हजार फरिश्ते नाजिल करके तुम्हें मदद दे हां क्यों नहीं अगर तुम दिल को मजबूत रखो और नाफरमानी से बचते रहो और काफिर तुम पर जोश के साथ दफतन हमला कर दें तो तुम्हारा परवरदिगार पांच हजार फरिश्ते जिन पर निशान होंगे तुम्हारी मदद को भेजेगा और उस मदद को तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जरिया बिशारत बनाया यानी इसलिए कि तुम्हारे दिलों को उससे इतमान हासिल हो वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से होती है जो गालिब है हिकमत वाला है ये अल्लाह ने इसलिए किया कि काफिरों की एक जमात को हलाक कर दे या उन्हें जलील मकलूब कर दे कि नाकाम वापस जाएं। ए पैगंबर इस काम में तुम्हारा कुछ इख्तियार नहीं अब दो सूरतें हैं या अल्लाह उनके हाल पर मेहरबानी करे या उन्हें अजाब दे कि ये जालिम लोग हैं और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है वो जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अजाब करे और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है ए ईमान वालो दुगना चौगना सूद न खाओ और अल्लाह से डरो ताकि कामयाब हो जाओ और दोजख की आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है और अल्लाह और उसके रसूल की इतात करो ताकि तुम पर रहमत की जाए और अपने परवरदिगार की बख्शिश और उस बहिश्त की तरफ लपको जिसका अर्ज आसमान और जमीन के बराबर है और जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है जो आसूदगी और तंगी में अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते और लोगों के कसूर मुआफ करते हैं और अल्लाह नेकुकारों को दोस्त रखता है और वो कि जब कोई खुला गुनाह या अपने हक में कोई और बुराई कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं और अल्लाह के सिवा गुनाह बख्श भी कौन सकता है और जानबूझकर अपने अफाल पर अड़े नहीं रहते ऐसे ही लोगों का सिला उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश और बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा बसते रहेंगे और अच्छे काम करने वालों का बदला बहुत अच्छा है तुम लोगों से पहले भी बहुत से वाकयात गुजर चुके हैं तो तुम जमीन में सैर करके देख लो कि झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ ये कुरान लोगों के लिए साफ पैगाम और अहल तकवा के लिए हिदायत और नसीहत है और बददिल न होना और न गम करना अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम्हें जख्म शिकस्त लगा है तो इन लोगों को भी ऐसा जख्म लग चुका है और ये अयाम जमाना है कि हम इनको लोगों में बदलते रहते हैं और इससे यह भी मकसूद था कि अल्लाह ईमान वालों को जुदा कर दे और तुम में से बास को शहीद बनाए और अल्लाह बे इंसाफों को पसंद नहीं करता और यह भी मकसूद था कि अल्लाह ईमान वालों को पाक साफ बना दे और काफिरों को नाबूद कर दे क्या तुम ये समझते हो कि बेआजमाइश बहिश्त में जा दाखिल होगे हालांकि अभी अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को तो अच्छी तरह मालूम किया ही नहीं और यह भी मकसूद है कि वो साबित कदम रहने वालों को मालूम करे और तुम मौत शहादत के आने से पहले उसकी तमन्ना किया करते थे सो तुमने उसको आंखों से देख लिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगंबर ही तो हैं इनसे पहले भी बहुत से पैगंबर हो गुजरे हैं भला अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे और जो उल्टे पांव फिर जाएगा तो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा और अल्लाह शुक्रगुजारों को बड़ा सवाब देगा और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए उसने मौत का वक्त मुकर्र करके लिख रखा है और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अदा करेंगे और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे और बहुत से नबी हुए हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहलुल्ला दुश्मनों से लड़े हैं तो जो मुसीबतें उन पर अल्लाह की राह में वाकई हुई उनके सबब उन्होंने न तो हिम्मत हारी और न बुजदिली की न काफिरों से दबे और अल्लाह इस्तकलाल रखने वालों को दोस्त रखता है और इस हालत में उनके मुंह से कोई बात निकलती तो यही क्या परवरदिगार हमारे गुनाह और ज्यादतियां जो हम अपने कामों में करते रहे हैं मुआफ फरमा और हमको साबित कदम रख और काफिरों पर फतेह इनायत कर तो अल्लाह ने उनको दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदला देगा और अल्लाह नेकूकारों को दोस्त रखता है मोमिनो अगर तुम काफिरों का कहा मान लोगे तो वो तुमको उल्टे पांव फेर कर मुरतद कर देंगे फिर तुम बड़े खसारे में पड़ जाओगे ये तुम्हारे मददगार नहीं है बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है और वो सबसे बेहतर मददगार है हम अन करीब काफिरों के दिलों में रोब बिठा देंगे क्योंकि ये अल्लाह के साथ शिरक करते हैं जिसकी उसने कोई भी दलील नाजिल नहीं की और इनका ठिकाना दोजक है वो जालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है और अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिया यानी उस वक्त जबकि तुम काफिरों को उसके हुक्म से कत्ल कर रहे थे यहां तक कि जो तुम चाहते थे अल्लाह ने तुमको दिखा दिया उसके बाद तुमने हिम्मत हार दी और पैगंबर के हुक्म की तामील में झगड़ा करने लगे और तुमने उसकी नाफरमानी की बाज तो तुम में से दुनिया के तलबगार थे और बाज आखिरत के तालिब उस वक्त अल्लाह ने तुमको उनके सामने से हटा दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे और उसने तुम्हारा कसूर मुआफ कर दिया और अल्लाह मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है वो वक्त भी याद करने के लायक है जब तुम लोग दूर भागे जाते थे और किसी को पीछे फिरकर नहीं देखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तुम्हारे पीछे खड़े बुला रहे थे तो अल्लाह ने तुमको गम पर गम पहुंचाया ताकि जो चीज तुम्हारे हाथ से जाती रही या जो मुसीबत तुम पर वाकई हुई है उससे तुम गमगीन न हो और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है फिर अल्लाह ने उस परेशानी के बाद तुम पर तसल्ली नाजिल फरमाई यानी नींद कि तुम में से एक जमात पर तारी हो गई और कुछ लोग जिनको जान के लाले पड़ रहे थे अल्लाह के बारे में नाहक अयाम कुफर कैसे गुमान करते थे और कहते थे भला हमारे इख्तियार की कुछ बात है तुम कह दो कि बेशक सब बातें अल्लाह ही के इख्तियार में हैं ये लोग बहुत सी बातें दिलों में मख्फी रखते हैं जो तुम पर जाहिर नहीं करते थे कहते थे कि हमारे बस की बात होती तो हम यहां कत्ल ही ना किए जाते कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिनकी तकदीर में मारा जाना लिखा था वो अपनी अपनी कत्लगाहों की तरफ जरूर निकल आते इससे गरज यह थी कि अल्लाह तुम्हारे सीनों की बातों को आजमाए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसको साफ कर दे और अल्लाह दिलों की बातों से खूब वाकिफ है जो लोग तुम में से ओहद के दिन जबकि मोमिनों और काफिरों की दो जमातें एक दूसरे से गुथ गईं जंग से भाग गए तो उनके बाज अफाल के सबब शैतान ने उनको फिसला दिया था और यकीनन अल्लाह ने उनका कसूर मुआफ कर दिया बेशक अल्लाह बख्शने वाला है बुरदबार है मोमिनों उन लोगों जैसे न होना जो कुफ्र करती हैं और उनके मुसलमान भाई जब अल्लाह की राह में सफर करें और मर जाएं या जिहाद को निकले और मारे जाएं तो उनकी नस्बत कहते हैं कि अगर वो हमारे पास रहते तो न मरते और न मारे जाते ये इसलिए कि अल्लाह उन लोगों के दिलों में अफसोस पैदा कर दे और जिंदगी और मौत तो अल्लाह ही देता है और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है और अगर तुम अल्लाह के रस्ते में मारे जाओ या मर जाओ तो जो मालूमता लोग जमा करते हैं उससे अल्लाह की बख्शिश और रहमत कहीं बेहतर है और अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ तो अल्लाह के हुजूर में जरूर इकट्ठे किए जाओगे फिर ए नबी अल्लाह की मेहरबानी से तुम उन लोगों के लिए नर्म मिजाज वाके हुए हो और अगर तुम बदखू और सख्त दिल होते तो ये तुम्हारे पास से भाग खड़े होते सो इनको माफ कर दो और इनके लिए अल्लाह से मफफरत मांगो और अपने कामों में इनसे मशवरत लिया करो और जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है उसके बाद तुम्हारी मदद करे और मोमिनों को तो चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें और कभी नहीं हो सकता कि कोई पैगंबर खयानत करे और खयानत करने वालों को कयामत के दिन खयानत की हुई चीज अल्लाह के रूबरू ला हाजिर करनी होगी फिर हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उनके साथ बेइंसाफी नहीं की जाएगी भला जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी का ताबे हो वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो अल्लाह की नाखुशी में गिरफ्तार हो और जिसका ठिकाना दोजख है और वो बुरा ठिकाना है सब लोगों के अल्लाह के यहां मुख्तलिफ दर्जे हैं और अल्लाह उनके सब अमाल देख रहा है अल्लाह ने मोमिनों पर यकीनन एहसान किया है कि उनमें उन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और उनको पाक करते और उन्हें किताब हिकमत की तालीम देते हैं और पहले तो ये लोग खुली गुमराही में थे भला ये क्या बात है कि जब ओहद के दिन कुफार के हाथ से तुम पर मुसीबत वाक हुई हालांकि जंग बद्र में उससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथ से उन पर पड़ चुकी है तो तुम कहने लगे कि यह आफत हम पर कहां से आ पड़ी कह दो कि यह तुम्हारी ही शामत आमाल है कि तुमने पैगंबर के हुक्म के खिलाफ किया बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है और जो मुसीबत तुम पर दोनों जमातों के मुकाबले के दिन वाक़ हुई सो अल्लाह के हुक्म से वाक़ हुई और उससे ये मकसूद था कि अल्लाह मोमिनों को अच्छी तरह मालूम कर ले और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले और जब उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह के रस्ते में जंग करो या काफिरों के हमलों को रोको तो कहने लगे कि अगर हमको लड़ाई की खबर होती तो हम जरूर तुम्हारे साथ रहते ये उस दिन ईमान की नस्बत कुफर से ज्यादा करीब थे मुंह से वो बातें कहते हैं जो इनके दिल में नहीं है और जो कुछ ये छुपाती हैं अल्लाह उससे खूब वाकिफ है ये खुद तो जंग से बचकर बैठ ही रहे थे मगर जिन्होंने अल्लाह की राह में जाने कुर्बान कर दी अपने उन भाइयों के बारे में भी कहते हैं कि अगर हमारा कहा मानते तो कत्ल ना होते कह दो कि अगर सच्चे हो तो अपने ऊपर से मौत को टाल देना जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनको मरे हुए न समझना वो मरे हुए नहीं हैं बल्कि अल्लाह के नजदीक जिंदा हैं और उनको रिस्क मिल रहा है जो कुछ अल्लाह ने उनको अपने फजल से बख्श रखा है उसमें खुश हैं और जो लोग उनके पीछे रह गए और शहीद होकर उनमें शामिल नहीं हो सके उनकी नस्बत खुशियां मना रहे हैं कि कयामत के दिन उनको भी न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे और अल्लाह के इनामात और फजल से खुश हो रहे हैं और इससे कि अल्लाह मोमिनों का अजर जाया नहीं करता जिन्होंने बावजूद जख्म खाने के अल्लाह और रसूल के हुक्म को कबूल किया जो लोग उनमें नेकुकार और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा सवाब है जब उनसे लोगों ने आकर बयान किया कि कुफ्फार ने तुम्हारे मुकाबले के लिए लश्कर कसीर जमा किया है तो उनसे डरो तो उनका ईमान और ज्यादा हो गया और कहने लगे हमको अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है फिर वो अल्लाह की नेमतों और उसके फजल के साथ खुश खुर्रम वापस आए उनको किसी तरह का जरर ना पहुंचा और वो अल्लाह की खुशनूदी के ताबे रहे और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है ये खौफ दिलाने वाला तो शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है तो अगर तुम मोमिन हो तो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना और जो लोग कुफर में जल्दी करते हैं उनकी वजह से गमगीन ना होना ये अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते अल्लाह चाहता है कि आखिरत में इनको कुछ हिस्सा न दे और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफर खरीदा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उनको दुख देने वाला अजाब होगा और काफिर लोग ये ना ख्याल करें कि हम जो उनको मोहलत दिए जाते हैं तो ये उनके हक में अच्छा है नहीं बल्कि हम उनको इसलिए मोहलत देते हैं कि और गुनाह कर लें आखिरकार उनको जलील करने वाला अजाब होगा लोगो जब तक अल्लाह नापाक को पाक से अलग न कर देगा मोमिनों को इस हाल में जिसमें तुम हो हरगिज नहीं रहने देगा और अल्लाह तुमको गैब की बातों से भी मुत्तला नहीं करेगा अलबत्ता अल्लाह अपने पैगंबरों में से जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है सो तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखो और अगर ईमान पर कायम रहोगे और परहेजगारी करोगे तो तुमको अजर अजीम मिलेगा जो लोग माल में जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमाया है बुखल करते हैं वो इस बुखल को अपने हक में अच्छा ना समझें वो अच्छा नहीं बल्कि उनके लिए बुरा है वो जिस माल में बुखल करते हैं कयामत के दिन उसका तोक बनाकर उनकी गर्दनों में डाला जाएगा और आसमानों और जमीन का वारिस अल्लाह ही है और जो अमल तुम करते हो अल्लाह को मालूम है अल्लाह ने उन लोगों का कौल सुन लिया है जो कहते हैं कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार हैं ये जो कुछ कहते हैं हम उसको लिख लेंगे और पैगंबरों को जो ये नाहक कत्ल करते रहे हैं उसको भी कलम बंद कर रखेंगे और कयामत के रोज कहेंगे कि सख्त जलन वाली आग के अजाब के मजे चकते रहो ये उन कामों की सजा है जो तुम्हारे हाथ आगे भेजते रहे हैं और अल्लाह तो बंदों पर मुतलक जुल्म नहीं करता जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म भेजा कि जब तक कोई पैगंबर हमारे पास ऐसी न्याज लेकर ना आए जिसको आग आकर खा जाए तब तक हम उस पर ईमान न लाएंगे ए पैगंबर उनसे कह दो कि मुझसे पहले कई पैगंबर तुम्हारे पास खुली हुई निशानियां लेकर आए और वो मोजजा भी लाए जो तुम कहते हो तो अगर सच्चे हो तो तुमने उनको क्यों कत्ल किया फिर अगर ये लोग तुमको झुटला रहे हैं तो तुमसे पहले बहुत से पैगंबर खुली हुई निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आ चुके हैं कि उनको भी झुटलाया गया था हर शख्स को मौत का मजा चखना है और तुमको कयामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा तो जो शख्स दोजक से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंच गया और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है अहले ईमान तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है और जब अल्लाह ने उन लोगों से जिनको किताब इनायत की गई थी इकरार लिया कि उसमें जो कुछ लिखा है उसे लोगों से साफ साफ बयान करते रहना और उसकी किसी बात को न छुपाना तो उन्होंने उसको पसे पुष्ट फेंक दिया और उसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल की ये जो कुछ हासिल करते हैं बुरा है जो लोग अपने किए हुए कामों से खुश होते हैं और वो काम जो करते नहीं उनके लिए चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए उनकी निस्बत ख्याल न करना कि वो अजाब से छुटकारा पाएंगे और उन्हें दर्द देने वाला अजाब होगा और आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही को है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में अकल वालों के लिए निशानियां हैं जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते और कहते हैं कि अः परवरदिगार तूने इस कायनात को बेफायदा नहीं पैदा किया तू पाक है तो क्यामत के दिन हमें दोजख के अजाब से बचाइयो ए परवरदिगार जिसको तूने दोजख में डाला उसे रसुआ किया और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा ए परवरदिगार हमने एक पुकारने वाले को सुना के ईमान के लिए पुकार रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ तो हम ईमान ले आए सो ए परवरदिगार हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे और हमको दुनिया से नेक बंदों के साथ उठाइयो ए परवरदिगार तूने जिन जिन चीजों के हमसे अपने पैगंबरों के वास्ते से वादे किए हैं वो हमें अता फरमा और कयामत के दिन हमें रुसवा ना कीजियो कुछ शक नहीं कि तू खिलाफ वादा नहीं करेगा तो उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को मर्द हो या औरत जाया नहीं करता तुम एक दूसरे के हम जिन्स हो तो जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गए और अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और लड़े और कत्ल किए गए मैं उनके गुनाह दूर कर दूंगा और उनको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं ये अल्लाह के यहां से बदला है और अल्लाह के यहां अच्छा बदला है ए पैगंबर काफिरों का शहरों में ठाट से घूमना तुम्हें धोखा न दे ये दुनिया का थोड़ा सा फायदा है फिर आखिरत में तो उनका ठिकाना दोजक है और वो बुरी जगह है लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे ये अल्लाह के हाथ से उनकी मेहमानी है और जो कुछ अल्लाह के हां है वो नेकूकारों के लिए बहुत अच्छा है और बाज अहले किताब ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और उस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और उस पर जो उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं और अल्लाह के आगे आजिजी करते हैं और अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत नहीं लेते यही लोग हैं जिनका सिला उनके परवरदिगार के हां तैयार है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है ए अहले ईमान कुफार के मुकाबले में साबित कदम रहो और इस्तेकामत रखो और मोर्चों पर जमे रहो और अल्लाह से डरो ताकि मुराद हासिल करो शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है लोगो अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया फिर उन दोनों से कसरत से मर्द औरत पैदा करके रुए जमीन पर फैला दिए और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से हकूक का मुतालबा करते हो और कतर रहमी से बचो कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है और यतीमों का माल जो तुम्हारी तहवील में हो उनके हवाले कर दो और उनके पाकिजा और उमदा माल को अपने नाकिस और बुरे माल से न बदलो और न उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ कि यह बड़ा सख्त गुना है और अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हों दो दो या तीन तीन या चार चार उनसे निकाह कर लो और अगर इस बात का अंदेशा हो कि कई औरतों से इंसाफ न कर सकोगे तो एक ही औरत से निकाह करो या बांदी से ताल्लुक रखो जिसके तुम मालिक हो इस तरह तुम बेइंसाफी से बच जाओगे और औरतों को उनके मेहर खुशी से दे दिया करो हां अगर वो अपनी खुशी से उसमें से कुछ तुमको छोड़ दें तो उसे मजे से खा लो और कम अकलों को उनका माल जिसे अल्लाह ने तुम लोगों के लिए सबब मीशत बनाया है मत दो हां उसमें से उनको खिलाते और पहनाते रहो और उनसे माकूल बात कहते रहो और यतीमों को बालिग होने तक कामकाज में मसरूफ रखो और जांचते रहो फिर बालिग होने पर अगर उनमें अकल की पुख्तगी देखो तो उनका माल उनके हवाले कर दो और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे यानी बड़े होकर तुमसे अपना माल वापस ले लेंगे उसको फजूल खर्ची और जल्दी में न उड़ा देना और जो शख्स आसूदा हाल हो उसको ऐसे माल से कतई तौर पर परहेज रखना चाहिए और जो जरूरतमंद हो वो मुनासिब तौर पर यानी बकद्र खिदमत कुछ ले ले और जब उनका माल उनके हवाले करने लगो तो गवाह कर लिया करो और हकीकत में तो अल्लाह ही गवाह और हिसाब लेने वाला काफी है जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे थोड़ा हो या बहुत उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी ये हिस्से अल्लाह के मुकर्र किए हुए हैं और जब मीरास की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और नादार लोग आ जाएं तो उनको भी उसमें से कुछ दे दो और उनसे माकूल बात कहो और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हों कि अपने बाद नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ जाएं और उनको उनकी नस्बत खौफ हो कि हमारे मरने के बाद उन बेचारों का क्या होगा बस चाहिए कि ये लोग अल्लाह से डरें और दुरुस्त बात कहें जो लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और जरूर जख्म में डाले जाएंगे अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर है और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों यानी दो या दो से ज्यादा तो कुल तरके में उनका दो तिहाई है और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका निस्फ है और मैयत के मां बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में छठा हिस्सा है बशर्ते के मैयत की औलाद हो और अगर औलाद न हो और सिर्फ मां बाप ही उसके वारिस हों तो एक तिहाई मां का हिस्सा है और अगर मैयत के भाई भी हों तो मां का छठा हिस्सा होगा और यह तकसीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके जिम्मे हो अमल में आएगी तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों और पोतों में से फायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज्यादा करीब है ये हिस्से अल्लाह के मुकर्र किए हुए हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है हिकमत वाला है और जो माल तुम्हारी बीवियां छोड़ मरें अगर उनकी औलाद न हो तो उसमें से निस्फ तुम्हारा है फिर अगर उनकी औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा चौथाई है लेकिन यह तकसीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके जिम्मे हो की जाएगी और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो तुम्हारी बीवियों का उसमें चौथा हिस्सा है फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनका आठवां हिस्सा है ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके न बाप हो न बेटा मगर उसके भाई या बहन हो तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा है और अगर एक से ज्यादा हो तो सब एक तिहाई में शरीक होंगे ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत कर्ज बशर्ते कि इनसे मैयत ने किसी का नुकसान न किया हो तकसीम किए जाएंगे ये अल्लाह का फरमान है और अल्लाह निहायत इल्म वाला है बुरदबार है ये तमाम अहकाम अल्लाह की हदें हैं और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर की फर्मा बरदारी करेगा अल्लाह उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें बह रही हैं वो उनमें हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा उसको अल्लाह दोजख में डालेगा जहां वो हमेशा रहेगा और उसको जिल्लत का अजाब होगा मुसलमानों तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इरतकाब कर बैठी उन पर अपने लोगों में से चार शख्सों की शहादत लो अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहां तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई और सबील पैदा करे और जो दो मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको ईजा दो फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकुकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है मेहरबान है